आपकी काशी पूरी अब कितनी दूर है अभी तक तो बहुत दूर है यहाँ से काशी अंदाज बताइए महाराज अंदाज अभी तक यहाँ से काशी पाँच बढ़ता जाएगा ठीक है महाराज आवाज लगाइए चलो काशी के अंदर तीन प्राणी बिकता किसी को लेना है चले आओ महाराज आप किस बात की आवाज लगा रहे हैं मेरे पास तीन प्राणी है एक मर्द है एक औरत है एक बच्चा मैं बेचता हूँ बच्चे की जरूरत है महाराज बच्चा लेना है लेना है महाराज इधर आइए बच्चा ये देखो ये बच्चा है महाराज इसकी कीमत क्या है इसकी कीमत बीस बरी सोना लीजिए महाराज सेंट्रल बैंक बरोदा का ड्रॉप है तो साढ़े सात ले लेना अच्छी बात बहुत अच्छी महाराज हाँ। अब आपका कितना रहा बीस बार आ गया मेरा चालीस बरी सोना गया आवाज लगाइए काशी के अंदर दो प्राणी बिकता किसी को लेना चले चलो मेरी मुन्ना जा बाजार में जा रहा हूँ घूमने के लिए हाँ। हम भी चलेंगे आपके साथ देखो मेरी बात सुनो गुना जाए हाँ, हाँ, हाँ बोले ये मेरे साथ में तुम लोग मत चलो क्या क्यों क्या क्या बात है मैं तो कभी स्कूटर के ऊपर मैं स्कूटर हाँ। कभी मेरे ऊपर पैदल चलेंगे अपन तो। पैदल तुम्हारे से चला नहीं जाएगा अगर चलना है तो मैं क्यों वैसे चलना हुआ कैसे देखिए गदर है कव्वाली है दादा है घुमरा अच्छी बात है क्षमा बेकार है जिसका जिसका उजाला नगवा और वो बेकार है घर जाने वाला नुआ कदर कुछ होती नहीं दिल से उतर जाने के बाद फूल में खुशबू नहीं रहती बिखर जाने डिजास्टर चमन के बाग में देखिए मेरे सज्जनों ये मेरे शेर का है गजल का शेर है दमन हाँ, हाँ, चंदन चमन के बाग में तू चालनार का और मरता है तेरी याद पे लड़का सुनार का पहचाने वालों ने तीर मारा जाने जी महाराज क्या बोलते हैं आप कौन हो क्या कर रहे हो महाराज अरे ये तो वही है वही अरे अपने हमेशा मकान कौन आता है आप काय की आवाज लगा रहे हो मेरे पास एक तो मर्द है एक रुपए राम जी फलके वाले उनकी ओर से श्रीमान पोखरा जोखर को रबड़ी चाटने के लिए ले जा रहा है हाँ, हाँ महाराज आप काय की आवाज लगा रहे हो मेरे पास एक मर्द एक औरत है एक तो मर्द और एक औरत उस्ताद जी हेलो महाराज के पास एक औरत है और एक मरद है देखिए बुना जाए हाँ। मर्द को क्या करना मर्द तो मैं एक ही हूँ बहुत कपड़ा धोने के लिए अच्छा और हाँ ठीक है उस्ताद औरत ले लीजिए हाँ, ऐसे कीजिएगा तुम उस औरत को खरीद के घर ले गया ना मैं जा रहा हूँ मैं वेटिंग नहीं नहीं कौन जा रहा है अभी महाराज औरत कहाँ है ये खड़ी देख सकती हूँ हाँ ऐसी है जैसे चांद का टुकड़ा अरे वहाँ कहाँ है औरत ऐसी है ऐसे जैसे ये बिजी है ना वैसी औरत है ऐसा और हाँ ऐसा औरत हाँ हाँ उसका जी बहुत अच्छी है तो उसको आधा लेना है या पूरा क्या उसको क्या देना आधा ले तो मैं जाके इंस्पेक्शन करके आता हूँ हाँ जाइए आप इधर आइए मैं देखना मेरे सामने देखना आंखें खोलना कहिए उस्ताद क्या बात है अरे इसके आंख के अंदर बटर घूमता है नहीं नहीं ये बाड़ी है बाड़ी बाड़ी नहीं है बहन इधर देखना भाई आंखें ठीक है ना इसकी तुम इधर आओ वापस देखना तो इधर देखना मैं आंखें ठीक है ना वापस देखो तो इधर आंखें खोलो हाँ, तो तो अरे बाप रे वाह वाह वाह वाह वाह क्या लगा रखी है यहाँ ये मेरे अल्लाह ये तमाम खुशबू का दे दिया मेरे लिए खुशबू खुशबू दे महाराज इसकी क्या कीमत है इसकी कीमत बीस भरी सोना है महाराज तो कम कीजिए कम नहीं होगा पूरा बीस बार लगेगा महाराज पूरा ही लगेगा हाँ हाँ दे दीजिए बहन अच्छा जाइए आप इनके साथ ऋषिराज क्या ये लोग कौन है ये काशीपुर की बेटिया है गुरु बाबा एक नाचने गाने वाली ये सब कमाने वाली औरत के घर आप मुझे बैठ रहे हैं महाराज देखो भाई मैं जात पात नहीं पूछता हूँ कोई खरीदार आ जाता उनको बेच देता मगर इसके घर मेरा रहन सहन कैसे होगा तुम तुम्हारा संभालना चलिए बहन मेरे घर चलो अच्छा देखिए बहन मैं जो काम की कहती हूँ और वो आपको काम करना पड़ेगा माता जी जो कुछ भी आप काम कहोगे हाँ। वह काम में सब करने के लिए तैयार लेकिन तीन काम तुम्हारे नहीं करूंगी मैं कौन कौन से एक तो तुम्हारे झूठे बर्तन साफ नहीं करूंगी हाँ, हमारे एक तुम्हारी सेज को कभी भी नहीं सजाऊंगी तीसरा जो ये काम है तेरा शब का हाँ। गंदा काम कभी नहीं करूंगी मैं क्या क्या पैसे दिए हैं भाई मोहब्बत में थोड़ी ना है तो क्या बुरे काम के पैसे दिए क्या हाँ चल तो हट चुप रह बुरे काम करने के लिए नहीं आई हूँ मैं जब जब क्या ओ मौज करे What? What? चालीस में जा छोड़ दे महाराज हाँ मारा मीना का पैसा नहीं लो पड़ो घर मुन्ना बोले अजी मारे तो मुंडो है हाँ। पर मैं बंगल रहेगी पूड रही पूड रही जो को बार में लो पड़ो तो मारा मीना का पैसा नहीं रही बन जावे अरे तो बंगाल भाई माटी भरे भाई अजी आ लेती कोनी करे लोग ए तुम्हारे हैं साथ के हल्ले पार ले अजी महाराज मने हेलो मत पड़ाओ तो पार तो ये राम बोले कोनी महाराज कोनी बोले हो जवाहर अब गए वाह मीने का पैसा हटाओ टोपी लगनी है मैं की होनी महाराज थे मने मुद्दे नो पड़ाओ देखो महाराज भागो तो वही काम है हाँ, देखो महाराज मारा मिमे का भाई साहब बराबर की मणि મણી તરકી हां देखो भाई रुपया भाई जो आपका घर का देने में बुलावे ना तो मारा बंदी का लखन सीख जा अरे मिमे हां हां देखी हां आज तो पंती है थरा भाई साहब की हां ठीक है हाथ पे निकाले ना जरूर दिलो आ रहा है मुझे और आप पंती मारी हां और आप पंती थारी हां ते तो के थारा बैसाखी पंती में खाइए हो तो पांच हम लिखो ना बैसाखी में तो क्या मैं खाऊं पंती खमा हां అందరూ నాన్న చేసిన లోతులు కానీ సభేమలేదు లోతులు లేదా ఒక ఆయన ఒక కితాగితేనే షిరో అరే దాని మాకు మనుషులు మరి మాకు మరి మాకు ఆ మరి లుగయ్య సదే ఆ లుగయ్య Thank you. एक बात और है हाँ बात है कि मैं जाऊं नौकर जाऊँ ने हाँ और तू घरे ही जो मान लो मैं मुंबई कलकत्ते मद्रास जाऊं हाँ और उसको मैं फोन करूं और तू घरे नहीं ही तो वो फोन घरे में बिरला मंडरा हो कोई बात नहीं हाँ? वो घर छोड़ की सुन जाऊं सबकी दे बुनियाद हाँ। हाँ, ये दूसरे रुपया श्रीमान बक्सराम जी चौधरी फालका निवासी उनकी ओर से दिया जा रहा है बंदा साहिबान को खींचना खाने में ये छत्तर का श्रीमान मांगू सिंह जी शेरड़ा निवासी उनकी ओर से दिया जा रहा है जो हाँ मैं जाऊँ तेरे मन के आलू और बोल बेंगण बोल बड़ी होगा गनाई कौन है भाई ये साहब आइए कौन है तुम मैं तो ठेकेदार हूँ ठेकेदार हाँ अच्छा ठेकेदार साहब आप कौन है मैं ब्राह्मण हूँ मेरे पास एक मर्द में भेजता हूँ और काय चीज का ठेकेदार है तुम मैं तो टटिया का हूँ साहब अरे मेरे को स्नान करना पड़ेगा पहले नहीं बोला कि मैं हरिजन तो महाराज आपको विचार करने की बात है मेरा सेनबोर्ड पर नजर नहीं आया तो तो कोयला का ठेकेदार है हर चीज का ठेकेदार होता बोलिए आप किस चीज के बाद लगा रहे हैं मेरे पास एक मर्द है मैं देखता हूँ मर्द महाराज मर्द मेरे लेना है लेना है हाँ नौकर लेना है जी हाँ ले लो कहाँ है वो खड़ा इधर आइए स्टैंड मेरे गज के बराबर हो जाएगा तो ले हाँ नाप ले भाई ये तो अच्छा पड़ता इधर से माप One, two, three. फोड़ फसा फटखस महाराज मैं तो नहीं क्यों तो कभी हो छो हजार कभी लंबो जा अरे तुम्हारा क्या नुकसान है तो अरे वाह महाराज इसमें तुम्हें क्या नुकसान है मान लो थोड़ी देर के लिए मैं इनको खरीद के मेरे घर के अंदर ले जाकर डालू अरे घर में जाके लंबा हो जाए इनको किधर से निकालू अरे इसकी पीठ नाप लो